अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अधर्माद इसके द्वारा नचिकेता ने पूछा धर्म अधर्म कार्य कारण से विलक्षण जो काल तरह से परिचिन्न नहीं ऐसा सर्व व्यवहार विषय से भिन्न जो ब्रह्म वस्तु को जानते हो हमको बताइए एतवम पृष्ठवते मृत्युरुवाच पृष्ठम वस्तु विशेषणांतरम च विवक्षण इतव पृष्ठवते नचिकेत से तबत प्रत्यांत पृष्ठवत पूछने वाले नचिकेता से रुवाच यमराज जी ने कहा कि मुवाच पृष्ठम वस्तु जो पूछा गया जो जिसके विषय में पूछा उसको कहा वो कहा आत्मतत्व और विशेषणांतरम च विवक्षण अन्य विशेषण भी विवक्षा करते हुए अन्य विशेषण भी कहा पूर्वोत्तर आगे कहेंगे ओंकार उपासन अंतर ओंकार उपासन भी कहते हैं सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदि चन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योत्मिते तत् यत् पदं सर्वे वेदा आमनन्ति सर्वाणि तपांसि च यद्वदन्ति यद इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्पदम ते संग्रहण ब्रवीमि ओम इति एतत् सारे वेद जिस पद को आमनंती कहते हैं प्रतिपादन करते हैं सारे वेद कहन से वेदांत अंश है प्रतिपादन करते हैं तो सारे वेद वेदांत जिसको जिसका प्रतिपादन करते हैं जिस ब्रह्म का सर्वाणी तपांसी तप शब्द से कर्म लेना वेद साक्षात प्रतिपादन करने वाले सर्वे वेदा उपनिषद भाग हो गए साक्षात प्रतिपादन करते हैं उससे भिन्न कर्म जितने तपांसी च कर्माणि सर्वाणि सब तप कर्म चयत भदंती जिसको कहते हैं अर्थात जिस प्राप्ति के लिए ये सारा वेद में जितने कर्म है उपासना है और ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही है तो उसको कहते उसको प्रतिपादन करते परंपरा से यद इच्छन्त ब्रह्मचर्य चरन्ति जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा से ही गुरुकुल वास करके ब्रह्मचर्य निवास करके वेदाध्ययन नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर के वेदांत श्रवण करते हैं संन्यास भी लेते हैं तत्पदम उसी पद को जिसको जो जानना चाहते हो पद्यते इति पदम प्राप्य वस्तु ज्ञेय ब्रह्म उसको संग्रहण में संक्षेप से कहता हूँ ओम इति एतत् ये ओम इस यह ही है ओम यह उसका प्रतीक और आलंबन है इस उपासना के लिए ओम इस पद सर्वे वेदा यत पदम पदनियम गमनियम अविभागेन आमनंती प्रतिपादयन्ति सर्वे वेदा का अर्थ क्या टीका में सर्वे वेदा इति वेदैकदेशा उपनिषदः वेद में कर्म है उप, उपनिषद है ज्ञान ज्ञान कांड उपनिषद है तो वेद का एक देश सर्वे वेदा शब्द से कहा एक देश में भी अवैव शब्द का प्रयोग किया जाता है वेद का एक देश उपनिषद को भी वेद शब्द से कहा जाता है पट का एक देश जल गया तो कहते पटो दग्ध ग्राम का एक देश जल गया तो ग्रामो दग्ध घृत लाया टिन थोड़ा खाया तो घृतम भुक्तम ये खाया एक देश में भी अवयव शब्द प्रयोग होता है तो यहाँ सर्वे वेदा में उपनिषद लेना वेद का एक देश ज्ञान कांड जो साक्षात जिस पद को आमनंती आमनंती का अर्थ कहते प्रतिपादन करते हैं अविभागेन अविरोधेन एक स्वर से प्रतिपादन करते हैं यथ पदम पदम पदनियम प्रापणीयम पद्यते इति पद जो प्राप्त करने योग्य है गमनियम प्रापणीय पद उसको ही प्रतिपादन करते सारे उपनिषद अविभागे न अविभाग का तो अविरोधे न अलग अलग नहीं कुछ अद्वैत तत्व कुछ उपनिषद द्वैत कुछ उपनिषद सूर्य को कुछ उपनिषद आकाश को कुछ प्राण को ऐसा नहीं एक अविरोधे न एक पद का प्रतिपादन करते हैं आमनंति पढ़ते हैं प्रतिपादन करते हैं शब्द अर्थ को प्रतिपादन के लिए होता है टीका में अनेन उपनिषदो ज्ञान साधनत्वेन साक्षात विनियुक्ता उपनिषदे ज्ञान साधन रूप से साक्षात उनका विनियोग हुआ तपांसि तेषां कर्माणि शुद्धि द्वारा अवगति साधनानि तपांसि कर्म वेद में कहा गया तेषां कर्माणि वेद उक्त कर्म अंतकोण शुद्धि के द्वारा अवगति साधना अवगति ज्ञान ज्ञान साधन है कर्म भाष्य में दिया तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति सारे तप का तप का तो कर्म वेद में उपनिषद भाग को छोड़कर कर्म उपासना सब है यद वदन्ति यत प्राप्ति अर्थानि जिसकी प्राप्ति के लिए ये यद इच्छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति जिसकी इच्छा करते हुए ब्रह्मचर्यम वास लक्षणम अन्यद्वा ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति गुरुकुलवास लक्षण ब्रह्मचर्य अन्य ब्रह्मचर्य सत्यहिंसा ब्रह्मचर्य पालन करके अनुष्ठान करते योगाभ्यास करते हैं मंत्र पुरस्कार आदि करते हैं ब्रह्म प्राप्त्यर्थम चरन्ति ब्रह्म प्राप्ति के लिए ही जिसकी अनुष्ठान करते तत्ते ते का तुभ्यम तुम्हारे लिए तत्पदम उसी पद को मैं कहूंगा यज ज्ञातुम इच्छसि तुम जो जानना चाहते हो उसको मैं कहूँगा संग्रहेण टीका में मंदाधिकारिनो विचारा समर्थस्य क्रमेण अवगति साधनम संक्षेपः आह उत्तम अधिकारी के लिए साधने विचार श्रवण मनन निधि ध्यान तीनों को मिला करके विचार कहते हैं उत्तम अधिकारी जो बुद्धि शुद्ध है जिज्ञासु है विचार करने के समर्थ है तर्क करने में समर्थ है वैराग्य है तो उत्तम अधिकारी उसके लिए श्रवण मनन निधिध्यासन जो उसमें असमर्थ होता है श्रवण मनन निधिध्यासन बहुत दिन श्रवण करने के बाद कहता कुछ नहीं मिला क्या लाभ हुआ कारण है विचार करने के लिए असमर्थ है उसको कहते हैं मंदा अधिकारी मंदाधिकारी के लिए श्रवण साधन नहीं श्रवण जो करने पर थोड़े समझे में आता है रुचि होती है और सुनने की इच्छा होती है जो होए उत्तम अधिकारी श्रवण करने के बाद श्रवण से वैराग्य हो जाता है लगता है बहुत सुन लिया और क्या बार-बार सुनना है श्रवण के फल यदि प्राप्त नहीं हुआ तो बहुत कैसे सुन लिया भोजन कर लिया कोई नहीं कहता बहुत खा लिया और नहीं खाएंगे पेट भरा नहीं तृप्ति नहीं हुई अब बहुत खा लिया और क्या खाएंगे ऐसा तो नहीं कितने खा लिया हिसाब नहीं करते पेट भरने तक खाना होता है हिसाब नहीं कि इतने खा लिया इतने खा लिया नहीं अथवा इतने दिन भोजन कर लिया और क्यों खाएंगे कोई से है इतने दिन खा लिया फिर कितने खाएंगे चलो और क्यों खाएंगे खाना तो छोड़ते नहीं श्रवण के लिए है हो गया श्रवण कर लिया समझ लिया अभी तो भ्रम है और क्या करना है अभी साधन करो साधन किया है ये भी समझना चाहिए शास्त्र के माध्यम से क्या साधन है वास्तव साधन सब संतरंग साधन क्या है श्रेष्ठ साधन ये भी समझना पड़ता है नहीं समझ कर कोई तो श्री शासन को साधन समझता है एक महात्मा थे तीन घंटा सुबह तीन घंटा शाम को शासन करने का अभ्यास उनका है तीन घंटा यदि शासन में रह जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा उसके लिए दूध फल खाना है उसके कड़ी करके दूध पी पी करके तीन घंटा सुबह शीर्षासन तीन घंटा शाम को तीन घंटा तो नहीं हुआ था कम हुआ था प्रयास करते तीन तीन घंटा हो जाएगा तो किस महात्मा ने बताया साक्षात्कार हो जाएगा और योग वास्त्र की कथा होती आकर बैठा बैठते नींद लगे सुन नहीं पाए योगाभ्यास उसमें लगे किंतु कोई कहता प्राणायाम करने से हो जाएगा कोई कहता कीर्तन करने से हो जाएगा कोई कहता तिलक धारण करो विभिन्न प्रकार विषय वेश बनाना है बहुत प्रकार करते अलग अलग है तो अलग अलग है उत्तम अधिकारी के लिए साधन क्या पता नहीं है शास्त्र के माध्यम से जब निश्चय होता है ये साधना तो दृढ़ होता है कुछ साधना करते कोई दूसरा आकर कुछ कहा तो लगता है ये साधना करना चाहिए कोई महात्मा ऐसे ऐसे बोल देते हैं तो किसी महात्मा ने बताया गंगोत्री में जाकर के वहाँ संत है आकाश से मुड़ते इधर जाते उधर जाते किसी को पता नहीं चलता सिद्ध चमत्कार बताया वो गाढ़ा खोल करके बैठाएंगे वहां अंदर ध्यान करने के लिए बुरी बुरी गाढ़ा में करनी यहाँ तक मीटिंग गाड़ देंगे बैठना होगा यहाँ रहेगा मरेगा नहीं और हाथ पैर हिला सकता है नहीं हिला सकता है रहेगा रहेगा तो ध्यान करना पड़ेगा ध्यान करने पर फिर सर्प दिखेगा व्याघ्र आएगा फिर ऐसे ऐसे होकर के जब डरोगे नहीं तो परमात्मा फिर आ जाएंगे तो ऐसे ऐसे बताने पर कुछ लोग सत्य बड़ा अच्छा है हम वैसे करेंगे तो थोड़े दिन के बाद फिर भागते हैं फिर भागे तो और आसपास नहीं कहां-कहां चल जाएंगे कुछ नहीं होता है तो फिर किसको क्या कहेंगे तो विभिन्न प्रकार साधन बताते हैं बहुत प्रकार साधन क्या है किसके लिए क्या साधना अपने की अवस्था में है इस समय हमको क्या साधना करना चाहिए ये भी शास्त्र गुरु के माध्यम से निश्चय जानना चाहिए शास्त्र भी देखे और गुरु के से भी परामर्श करके शास्त्र पढ़ करके देखा ये साधना अच्छा चाहे चलो इसको करेंगे फिर देखा ये मंत्र करेंगे तो सबके मन को जान लेते थोड़े दिन वो मंत्र अनुसार किया सबके मन को जान लेंगे तो बहुत अच्छी बात है फिर देखा कोई ये कर करेंगे तो आकाश में जाने का सामर्थ्य थोड़े दिन उसको करने लगा ऐसे शास्त्र दे करके नहीं शास्त्र में सब है उसको आपके अधिकार के अनुसार गुरु के माध्यम से लेना है कभी-कभी जो साधन नहीं उसके पीछे चल जाते हैं जो आवश्यक नहीं वो समझ चमत्कार सोच कर चले गए थोड़ी देर के बाद पता चलता है क्या अरे मैं क्या कर रहा हूँ इसलिए साधन समझना चाहिए जब श्रवण में विचार में सा, कुछ सामर्थ्य रुचि होती है अनेक जन्म पुण्य पुंज इकट्ठे होने पर फल देता है श्रवण करने की इच्छा होती है तो जिज्ञासा होती श्रवण करने की इच्छा होती श्रवण करने से थोड़ा समझ में आ गया श्रवण मनन निधिध्यासन से भिन्न कोई उत्कृष्ट साधन है ही नहीं सबसे श्रेष्ठ साधन है हाँ उसमें जो नहीं कर पाएगा बहुत दिन करने के बाद अत्यंत बुद्धिमान दे हो विचार नहीं कर सकता है बहुत श्रवण ही नहीं कर सकते हैं और श्रवण करने के बाद वासना है तो मनन नहीं करते हैं मनन नहीं करेंगे तो निधि ध्यान कैसे होगा कुछ लोग ऐसा सिखा देते जो स्वयं मनन निधि ध्यान नहीं करने वाले हैं आचार्य बनकर बड़े बनेंगे रुपया ठीक हो गया भक्त शिष्य बहुत बनेंगे तो अवश्य ज्ञानी होंगे ना जिनके पास रुपया बहुत भक्त बहुत शिष्य बहुत हो ज्ञान है ना नहीं वो सिखा देते हैं देखो मन निधि आसन कुछ नहीं श्रवण कर लिया तुमको ज्ञान हो गया पहले तुमको मालूम नहीं था अभी तुमने वेदांत श्रवण किया कुछ मालूम हो गया ना नहीं कुछ तो मालूम होता है बोले हाँ कुछ मालूम हुआ जीव ब्रह्म के कहता ये तो समझ आ गया यही अपरोक्ष ज्ञान है और अपरोक्ष ज्ञान क्या है यह साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ब्रह्म तो अपरोक्ष है तुमको जो ज्ञान हो गया वही अपरोक्ष और शिष्य शुद्ध बहुत अच्छा है हमारे गुरु बहुत अच्छे हमको तो ज्ञानी बना दिया बस अब क्या करना अभी जा करके लोगों को बताओ पढ़ाओ बस तो अपने को ब्रह्म ज्ञानी समझ रहे मनन निधिदासन का खंडन करते शास्त्र में है जो स्वयं शास्त्र पूरा पढ़ते नहीं अथवा पढ़ने पर श्रद्धा नहीं अथवा जिनको प्राप्त नहीं हुआ मनन निध्यासन नहीं किया वो मनन करने के लिए निधिध्यासन करने के क्यों कहेंगे वो खंडन करते हैं बड़े प्रसिद्ध अच्छे बहुत लोग उनको गुरु मानते हैं किंतु निधिध्यासन का खंडन करने वाले भी होते हैं फिर कभी-कभी थोड़ा मानते हैं कि भाष्य में बृहदारण्य भाष्य में आया कितने स्थान में द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिदास्य वितव्य कभी-कभी बोलेंगे फिर कभी खंडन कर देंगे तो खंडन करने में उनका आग्रह होने से उनके भक्त लोग शिष्य लोग उसी को मानते श्रवण कर लिया हो गया और क्या है तो वासना होने से मनन भी नहीं कर पाएंगे जो मनन नहीं करते बहुत लोग के थोड़ा श्रवण करने के बाद सामर्थ्य आ गया पढ़ाने के लिए लोगों को बताने के लिए लोगों में पूजा हो जाती है धन सम्पत्ति मिल जाती है शिष्य भक्त बन जाएंगे मकान आश्रम बन जाएगा तो उसमें लगे तो मनन करने का समय नहीं है मनन ही करें तो निधिध्यासन क्या होगा इस श्रवण के बाद मनन और मनन करने के लिए युक्तिया अनुसंधान मननम युक्ति से कैसे संभव है कुछ तो न्याय का खंडन करते न्याय नहीं पढ़ना है बिल्कुल नियम लगाते तो न्याय नहीं पढ़ना है कोई पढ़ाता है पाठ बंद कर न्याय के बिल्कुल विरोध इतने नहीं पढ़ना है न्याय का विरोधी करें तो मनन नहीं कर सकते न्याय जो आवश्यक है मनन करने के लिए पद वाक्य प्रमाण तीन आवश्यक है व्याकरण है पद के लिए वाक्य है मीमांसा विचार करने के लिए वेद वाक्य अर्थ के लिए और प्रमाण के लिए न्याय व्याकरण मीमांसा न्याय न्याय व्याकरण न्याय मीमांसा तीनों अत्यंत आवश्यक है तीनों पढ़ने पर वेदांत अर्थ समझ में आएगा उसमें एक नहीं किया नया नहीं किया तो तर्क से कैसे मनन किया जाएगा हाँ श्रुति विरुद्ध तर्क नहीं करना चाहिए शुष्क तर्क की प्रतिष्ठा नहीं ये तो ठीक है किंतु श्रुति अनुकूल तर्क अनुसंधीयता में आया तर्क अनुसंधान करना है श्रवण से हो गया किंतु कैसे संभव है उसके लिए तर्क से युक्तिया संभावितत्वानुसंधानम इसका नाम मनन है मनन कोई बहुत लोग नहीं जानते मनन मतलब जो कहा गया उसको बार-बार सुनो बार-बार चिंतन करो स्मरण करो उसको रटो ये मनन नहीं है मनन नहीं जो कहा गया उसको बार-बार सुनो बार-बार रटो उसको बोलो प्रवचन करो ये मनन नहीं है मनन युक्ति से कैसे संभव है संशय होता है ये जीव ब्रह्म की एकता है मैं अल्पज्ञ परिचय हूँ व्यापक ब्रह्म सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ब्रह्म एक कैसे होगा ये आकाश आदि प्रपंच जितने सत्य है ये तो है ही नहीं ब्रह्म अद्वितीय है जो साफ साफ दिखता है वो मिथ्या है और जो कहीं किसने देखा नहीं वो कहते ब्रह्म सत्य खाली शब्द से रट कर ब्रह्म सत्य ब्रह्म सत्य कहते देखा तो नहीं किसने देखा है किसने ब्रह्म को नहीं दिखा हुआ उसको सत्य मानते हैं और जो दिखता सारा प्रपंच सब मिथ्या है रट कर बोलते सब मिथ्या है ये सब मिथ्या है किंतु कुछ किसके बिना चलता नहीं सब मिथ्या भी कहते इधर सब चीज भी आवश्यक है अरे मिथ्या मिथ्या कौन से क्या होगा ये सब संशय निवृत्ति के लिए मनन करना होता है मनन करने के बाद ही निधि ध्यान होता है इसमें जो समर्थ है उसके लिए सबसे श्रेष्ठ साधन है श्रवण मनन निधि ध्यान उसमें जो अधिकारी नहीं है मंदा अधिकारी उसको कहते हैं किस लिए मंदा अधिकारी विचारा समर्थस्य विचार के लिए असमर्थ श्रवण मनन निधि ध्यान करने के लिए असमर्थ कुछ तो श्रवण करने के लिए थोड़े व्याकरण न्याय मीमांसा कम से कम लघु कम दी तर्क संग्रह अर्थ संग्रह इतने भी थोड़े ज्ञान हो तो श्रवण करने के लिए करके कुछ अर्थ समझ में आता है उसको भी नहीं करे तो समर्थ नहीं अच्छा किसका यदि कुछ संस्कार है तो व्याकरण न्याय नहीं होने पर भी अर्थ समझ आएगा किंतु निरंतर उसको लागे लगातार करे थोड़ी दिन करने के बाद छोड़ दिया तो गया इसे विचार के लिए असमर्थ रुचि नहीं हो तो फिर लाभ नहीं होता है श्रवण नहीं कर पाते अथवा थोड़े कर लिया लगता है बहुत आ गया तो जो इसी प्रकार असमर्थ किसी के कारण पाप के कारण पाप होता है प्रतिबंधक विभिन्न प्रकार प्रतिबंधक होने से श्रेयांशी बहुविज्ञानी प्रसिद्ध है श्रवण करने में प्रतिबंधक है देवता लोग विघ्न करते हैं ये श्रवण मनन अंतरंग साधन है उसे विघ्न आते हैं जरूर विघ्न नहीं किया भाग्य इधर तो विचार नहीं कर पाएगा जो असमर्थ उसके लिए उपासना शास्त्र में जो उपासना का उपदेश किया गया समझे किसके लिए उपासना है विचार असमर्थस्य क्रमेण अवगति साधनम विचार में जो असमर्थ उसको ज्ञान साधन बताते क्रम से ज्ञान का साधन क्रमेण अवगति ज्ञान का साधन क्रम से साधन संक्षेप संक्षेप से कहते हैं संग्रहेण संग्रहण का तो संक्षेपत ब्रवीमि संक्षेप से कहता हूँ क्या है ओम इति ओम यह साधन है यह साधन ओम तदेतत पदम यद बुभुषितं तोया यही पद है जीवन को तुम जानने के लिए प्रश्न किया था बुभुषितम बुद्धं इष्टं तुम्हारे तुम्हारी इच्छा थी तदेतत ओम ओम शब्द वाच्यम ओम शब्द प्रतीकम च ओम शब्द वाच्य ओम शब्द का अर्थ ब्रह्म है अवरक्षण धातु से अवते स्टील अवर लक्षण धातु से मनन प्रत्यय होता है अव का टील उप हो जाएगा नहीं मनन अव का नहीं मनन प्रत्यय के टील उप हो जाएगा तो अन चला जाएगा केवल म रह गया मकार और अव को हो जाए ज्वर तुरस्व्य में बाबा उपधायच ऊट हो जाता है वो अगर मकार ऊ को गुण हो जाएगा सार्वधातु देते हो ओम बनता है अवतेष्टि लोपश्च मनिन प्रत्यय की अनुवृत्ति मनिन की टी मनिन का मन की टी का लोप भी हो जाता है ओ वो हो गया ओम बनता अवतीति ओम तो ओम शब्द हो गया उसका ओम शब्द का अर्थ ब्रह्म है उसमें अ उ म कह करके स्थूल सूक्ष्म कारण अ उ म तीनों पा, पा आत्मा में चार पाद है एक एक पाद और यहाँ स्थूल सूक्ष्म कारण करके ओंकार में तीन मात्रा अ उ म अंत में जो है तीन मात्रा के बाद ओम उच्चारण करके फिर और एक ओम उच्चारण कर बीच में व्यवधान होता है उसको को तो मात्र प्रथम मात्र द्वितीय मात्र तृतीय मात्र अ उ म और एक अमात्र है इसी प्रकार आत्मा में चार पाद में स्थूल सूक्ष्म कारण स्थूल है विश्व सूक्ष्म है तेजस आगे प्राज्ञा विश्व तेजस प्राज्ञ जिसको समष्टि में विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर कहते हैं उससे अतिरिक्त चतुर्थ है पाद चतुर्थ पाद हे ब्रह्म शुद्ध तुरीय को कहते हैं तुरीय का अर्थ तो चतुर्थ तीन पाद आत्मा में अ उम पद्यते अननिति पाद ज्ञान साधन है और जो चतुर्थ पाद है तुरीय पद्यते इति पाद गम्यते इति वो ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है जो ओंकार में चतुर्थ मात्रा अमात्र है आत्मा के चतुर्थ पाद वही ब्रह्म है किंतु शुद्ध ब्रह्म किसी पद का वाच्य नहीं होता है तो ओंकार शब्द वाच्य ईश्वर होगा उससे लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म लेना है तो शुद्ध ब्रह्म को भी ओम शब्द से कहा जाता है ओम शब्द वाच्यम रोम शब्द प्रतीकम च ओम शब्द प्रतीकम यस्य ओम शब्द के प्रतीक है ब्रह्म का उपासना करने के लिए प्रतीक उपासना मनोब्रह्म इति उपासित शालग्राम में विष्णु की उपासना होती है शालग्राम में प्रतीक इसी प्रकार ब्रह्म का प्रतीक ओम शब्द ओम शब्द का अर्थ जो लिखते है दीवार में कागज में बोर्ड में ये शब्द नहीं है जो लिखते उसको कहते लिपि शब्द होता है श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द श्रवण इंद्र से जिस गुण का ग्रहण होता है उसको शब्द कहते हैं दिवाले में लिखेंगे तो श्रवण इंद्र से ग्रहण होता है उसका आंख से दिखेगा आंख से दिखेगा तो रूप कहेंगे चक्षुर मात्र ग्राह्य गुण रूप है श्रवण इंद्र से ग्रहण होता है शब्द ओम शब्द लिपि नहीं है ओम ये शब्द है शब्द ही प्रतीक है टीका में दिया है यस्य शब्द से उच्चारणे यत् स्फुरति तत्स्य वाच्यम प्रसिद्धम जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिसका भान होता है उसका वाच्य कहते ये प्रसिद्ध है घट शब्द उच्चारण करेंगे तो घट अर्थ का भान होता है जिसको शक्ति ज्ञान है तो घट शब्द का वाच्य अर्थ होता है लेखनी कलम शब्द लेखनी शब्द कहा तो कलम उपस्थित होता है उसका वाच्य अर्थ है जिस शब्द का उच्चारण करने पर जिस अर्थ का स्फुरन होता है भान होता है वो अर्थ उसी शब्द का वाच्य प्रसिद्ध है तो ओंकार शब्द समाहित चित्त से ओंकार उच्चारणे समाहित चित्त से समाहितम चित्तम यस्य जिसका चित्त समाहित है केवल ओम शब्द में आग्रह नहीं है चित्त समाहित हो सब छोड़ करके जब ओम शब्द उच्चारण करेंगे तो यद विषय अनुपरतक अनुपरक्तम संवेदन स्मृति घट कन से घट का स्पूर्ण होता है स्पूर्ण तो चेतन है किंतु घट विशिष्ट स्पूर्ण घट है विषय विषय से उपरोक्त विषय संबद्ध चेतन का स्पूर्ण होता है सभी कल्प ज्ञान जितने घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान से ज्ञान सब ज्ञान चेतन है स्पूर्ण है किंतु घट पट आदि विषय से विशिष्ट किंतु समाहित चित्त होने पर विषय का भान नहीं होता है ओम में शौचान करने से केवल स्पूर्ण है जिसमें कोई विषय नहीं है विषय अनुप्रत चैतन्य विषय रहित विषय विशिष्ट नहीं विषय अनुपंकार वाचक है तो विषय अनुप्रत विषय अविशिष्ट होकर के केवल चैतन्य स्पूर्ण होता है संवेदना तद ओंकारम अवलंब्य ओंकार शब्द को आश्रय करके तद वाच्यम ब्रह्मास्मि ओंकार शब्द का वाच्य ओंकार शब्द से कहा जाता है ब्रह्म वह ब्रह्म मैं हूं इति ध्यायेत ऐसा ध्यान करें ओम शब्द उच्चारण करके ओम शब्द से ब्रह्म कहा जाता है वो ब्रह्म मैं हूं और थोड़ा अर्थ समझ ले तो औम समझ करके उसका अधिष्ठान शुद्ध चेतन सो हम अस्मि मैं वही हूं ये उपासना है जितने उपासना सब उपासना में श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना उसमें ओम शब्द में आग्रह नहीं है ओम शब्द के लिया वो शब्द वाचक है उसका अर्थ ब्रह्म है इसी प्रकार अन्य भी शब्द है ब्रह्म का वाचक शब्द वाचक का अर्थ नहीं शक्ति से कहने वाले ब्रह्म को कहने के लिए तत्पद तत्पदे ब्रह्म शब्द है विष्णु शब्द भी है शिव शब्द भी है वेवेश्री चराचरमिति विष्णु चर अचर को व्याप्त करने वाला विष्णु विश्ली व्याप्तो धातु से बनता है विषय की चनु प्रत्यय होता है केते होने से गुण नहीं होता है विष्णु चराचर व्यापक विष्णु व्यापक ब्रह्म ब्रह्म है उसको ही राम शब्द कृष्ण शब्द विष्णु हरि शब्द बहुत शब्द तो किसी भी शब्द से आग्रह नहीं है शब्द का अर्थ ब्रह्म वही मैं हूँ ये ध्यान चिंतन इसका नाम अहंग उपासना और केवल ओम शब्द सुन करके जो बहुत लोग उसको जपने लग जाते हैं मंत्र जपने के लिए जिस मंत्र में जिसका अधिकार और समर्थ गुरु से दीक्षा ग्रहण करके जपना होता है बहुत लोग ऐसे करते अपने मन से जप करते हैं कहते हम नहीं करते अंदर से आता है अंदर से क्या जैसे पानी में घड़ा से निकल जाता है इस अंदर आ जाएगा अंदर से चेक करते तो अंदर से आ जाता है अपने आप हो जाएगा ऐसा नहीं है उसमें आग्रह कुछ करके वो कर दे कभी से शुरू कर देते तो लगता है कि अपने आप हो गया ऐसा नहीं जप करने के लिए गुरु से दीक्षित मंत्र जप करने में शक्ति है अन्य कोई मंत्र अपनी इच्छा से नहीं है ओम शब्द सबसे श्रेष्ठ कहकर कोई ना कोई जप करना ऐसा नहीं है राम शब्द भी हो कोई भी शब्द भगवान का नाम है जपने के लिए बहुत है कितने जपना है कितने एकाग्रता है कितने वैराग्य है कितने प्रेम है परमात्मा में ये है ओम शब्द का अर्थ शुद्ध ब्रह्म मैं हूं अहम अस्मि ये चिंतन ये ध्यान सबसे श्रेष्ठ उपासना है उसका नाम अहंग्रह उपासना ओम शब्द हो किसी भी शब्द हो शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ ये भी चिंतन करना सरल नहीं है जो श्रवण में असमर्थ मंदा अधिकारी उसके लिए क्या ब्रह्मा ब्रह्मास्मिति ध्यायेत ये भी तत्राप्य असमर्थ ये भी कौन ध्यान करे तुम मैं ब्रह्म हूँ शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ इसे ध्यान करो शुद्ध ब्रह्म मैं हूँ थोड़ी समय चिंतन करेगा इधर कहेगा शुद्ध ब्रह्म मैं क्या हूँ शुद्ध ब्रह्म क्या है भी तो पता नहीं और जो ब्रह्म व्यापक है जगत सृष्टि स्थिति प्रलय करने वाला वो मैं हूँ वो फिर अपने सोता है ये व्यर्थ है ऐसा रटने से क्या होगा कुछ लोग डराते हैं पाप होगा ये लोग पापी है कहते मैं परमात्मा हूँ ईश्वर हम बलवान सुखी आश्रय प्रकृति लोग डराते हैं पापी नरक जाएगा कहते हमको ब्रह्म कोई आए अयोध्या वृंदावन से बोले यहाँ तो मैं नहीं रहूँगा क्यों पर यहाँ तो सोलह अपने को परमात्मा कहते हैं पापी लोग है हम तो वहाँ रहेंगे बलम ने निरमे श्रीगा तुम विवांचति बोले गीदड़ बनकर रहना वहाँ चाहे यहाँ सब अपने को ब्रह्म कहते परमात्मा कहते पापी तो इसके ओम शब्द का जो लक्ष्यार्थ शुद्ध है अहम शब्द का लक्ष्यार्थ ब्रह्म मैं हूँ ऐसा यदि कोई चिंतन कर पाए सारे उपासना में सबसे श्रेष्ठ है अहंग्र उपासना और उसमें यदि असमर्थ तत्रापि असमर्थ ओम शब्दे एव ब्रह्म दृष्टि में कुरियात उसके लिए प्रतीक उपासना प्रतीक उपासना उसके बाद आता है प्रतीक में अहंग्रह उपासना नहीं होती है जो अहंग्रह उपासना करते हैं जैसे ओम शब्द का अर्थ में समष्टि प्राण में भी अहम समष्टि प्राण में हूँ अहंग्रह उपासना है संवर्ग उपासना रेक को जान श्रुति रेक ने जो बताया था वो भी संवर्ग उपासना अहंग्रह उपासना है ऐसा अहंग्रह उपासना बहुत है उसमें जो असमर्थ है वो प्रतीक उपासना करे ब्रह्म सूत्र में आया है जो अहंग्र उपासना करता है वो तो ब्रह्मलोक जा सकता है प्रतीक उपासना करने वाले ब्रह्मलोक नहीं जाता है प्रतीक उपासना प्रतीक में अहंग्र उपासना नहीं होती सामान्य प्रतीक रख चिंतन करते मनो ब्रह्म इति उपासित आकाश ब्रह्म इति आदेश शालग्राम में, में विष्णु बुद्धि नरमे में शिव बुद्धि ये सब प्रतीक उपासना है उसमें अहंग्रह में हूं ऐसा नहीं होता है इसलिए उसमें ब्रह्मलोक प्राप्ति नहीं श्रेष्ठ है अहंग्रह उपासना नहीं कर पाए तो प्रतीक उपासना करे प्रतीक उपासना में ओम शब्द में ब्रह्म दृष्टि करे जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि इस ओम शब्द में ब्रह्म दृष्टि करे ब्रह्म दृष्टि उत्कर्षात ब्रह्म सूत्र है प्रतीक में ब्रह्म चिंतन करे ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे प्रतीक है किंतु वहां ब्रह्म बुद्धि उपासना प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि ब्रह्म में प्रतीक बुद्धि नहीं है ये भी समझना है प्रतीक में ब्रह्म बुद्धि करना है परमात्मा को ही छोटा मानना कोई छोटे बाल गोपाल रखे परमात्मा को इतने यही परमात्मा को बाल गोपाल मानना बाल गोपाल में व्यापक परमात्मा चिंतन करना चाहिए शालग्रह में विष्णु चिंतन करना चाहिए व्यापक ब्रह्म प्रतीक में व्यापक ब्रह्म दृष्टि करे और व्यापक ब्रह्म यही है इतना ही है जो ब्रह्म परमात्मा ये ब्रह्म दूसरे नहीं ऐसा नहीं वो विपरीत हो जाता है प्रतीक में उपासना करनी चाहिए किंतु प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना है ये उपासना प्रामाणिक शास्त्रीय है नहीं समझने वाले बस इतने को हमारे भगवान हमारा ठाकुर यही है यही ठाकुर बस हमारे यही भगवान ठीक है भगवान किंतु जो भगवान है वो व्यापक इसी प्रतीक के अंदर है बाहर है प्रतीक में भी है व्यापक होने के कारण सर्वत्र है तो प्रतीक में भी है विष्णु हो शिव हो राम हो कृष्ण हो कुछ हो ब्रह्म परमात्मा व्यापक है जो उपासना करता है ईश्वर की व्यापक दृष्टिया और व्यापक सर्वत्र है तो प्रतीक में भी है जो लोग पापी खंडन करते प्रतीक उपासना का कहते इसमें क्या भगवान इतना तो पत्थर है भगवान सर्वज्ञ सर्वसत्वान व्यापक है सबके अंदर है पत्थर में भी है पत्थर होने से क्या हो गया पत्थर के अंदर भी पत्थर भी पत्थर मिट्टी काष्ठ कुछ भी हो आकाश को भी ब्रह्म चिंतन करते सर्वव्यापक है प्रतीक में भी है यदि प्रतीक में परमात्मा नहीं रहे सारे प्रतीक हटा देंगे तो परमात्मा कितने रहेंगे परमात्मा से व्यापक कैसे होंगे प्रतीक में ब्रह्म नहीं तो प्रतीक से हट जाएगा तो परमात्मा में छिद्र हो जाएगा बड़े व्यापक में जितने प्रतीक परमात्मा नहीं है कुछ लोग कहेंगे ये क्या परमात्मा है तो यहाँ प्रतीक में यदि नहीं है जो परमात्मा व्यापक कैसे तो होंगे वो तो परिचय हो जाएगा प्रतीक में भी है किंतु प्रतीक में ही है ऐसा नहीं प्रतीक में भी है बाहर भी है तो प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि कर उपासना करना यहाँ इस प्रकार जैसे शालग्राम में विष्णु बुद्धि इस ओम शब्द में ब्रह्म दृष्टि करे ओम शब्द में ब्रह्म दृष्टि का अर्थ नहीं ओम एक दीवार में लेकर के पटो चित्र रखकर उसको चिंतन करें पीतल के ओम को शब्द मिलता है ओम लिखा हुआ उसको कर उसको ध्यान करें बिजली आलो करके ओम कर दे उसको ध्यान करें वो शब्द वो नहीं है वो लिपि है हाँ शब्द का स्मारक लिपि है इस पुस्तक में हम देखते हैं ये अक्षर लिपि है हाँ, लिपि को देखकर पढ़ते तो अक्षर का स्मरण अध्ययन हो जाता है किंतु जो प्रतीक है जिसमें ब्रह्म दृष्टि करना ओम शब्द वो श्रोत्र ग्राह्य गुण शब्द है चक्षु से जो दिखता है लिपि वो नहीं है ये समझना चाहिए लिपि जो लेकर के बहुत स्थान में जहाँ ध्यान करेंगे वहाँ ओम लिखा हुआ उसमें ध्यान करते हैं ठीक है उस लिपि के द्वारा ओम शब्द का स्मरण करें शब्द में ब्रह्म दृष्टि करनी है ओम शब्दे ओम ये शब्द है इसी शब्द में ब्रह्म दृष्टि करके उपासना है ये समझना है ओम शब्देव ब्रह्म दृष्टिं कुरियात जो विचार के लिए असमर्थ पहले अहम ब्रह्म से चिंतन करे उसमें असमर्थ हो तो प्रतीक में ब्रह्म दृष्टि कर ओम शब्द प्रतीक है ओम शब्द वाचक भी है प्रतीक भी है इसलिए उसमें ब्रह्म दृष्टि करके उपासना करे ये ओम अक्षर के लिए आगे कहते हैं ओम इति एतद कहा ये उपासना करने के लिए साधन कहा एतद्देवाक्षरम ब्रह्म एतद्देवाक्षरं परम् एतद्देवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छस् यो यदिच्छति तस्य तत् एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म ओंकार ब्रह्म हे एतद्देवाक्षरं परम यक्षर अक्षर ब्रह्म हे ये अक्षर पर पर कौन से पहला अपर ब्रह्म ब्रह्म अपर ब्रह्म और वही अक्षरं परम पर ब्रह्म भी है पर ब्रह्म भी ओंकार अपर ब्रह्म भी ओंकार ओंकार से दोनों की उपासना जो लक्ष्य शुद्ध चैतन्य में हूँ अपर परब्रह्म है और अपर ब्रह्म है कार्य ब्रह्म है सगुण ब्रह्म है एतदेवाक्षर ज्ञात्वा इस अक्षर ब्रह्म का प्रतीक है ब्रह्म स्वरूपे जान करके समझ करके उपासना करके यो यद इच्छति तस्य तत् जो परब्रह्म अपरब्रह्म जिसको जैसे चाहता है उपासना करता है तस्य प्राप्ति वो इसको प्राप्त करता है परब्रह्म हो तो ज्ञातव्य ज्ञानना है और अपर ब्रह्म है तो ध्यान करना है शास्त्र में वेद में परम ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों का आता है प्रतिपादन होता है परम ब्रह्म शुद्ध चेतन ज्ञेयम यत प्रवक्षामि जो गीता में कहा गया ज्ञेय जानने के लिए अहम ब्रह्म परब्रह्म का ज्ञान शुद्ध चैतन्य उसमें असमर्थ है तो उपासना करने के लिए अपर ब्रह्म उस निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म ज्ञेय रूप से और सविशेष ब्रह्म ध्येय ध्यान का विषय निर्विशेषम परम ब्रह्म साक्षात्कर्तुम मनीश्वरा ये मंदास्ते अनुकंपियन्ते सविशेष निरूपणे ही निर्विशेष परब्रह्म है उसका साक्षात करने करने के लिए जो असमर्थ होते हैं जो अनिश्वरा ईश्वर उपासना कर्म आदि करने पर अंतकुण शुद्ध होने पर ही वैराग्य होता है तो साक्षात्कार कर सकता है जो असमर्थ है ते ये मंदा मंद बुद्धि वाले ते अनुकंपयन्ते उनके ऊपर अनुकंपा की जाती है शास्त्र में मुनि सिंह के द्वारा सविशेष निरूपण ही सविशेष ब्रह्म का निरूपण के द्वारा सविशेष ब्रह्म का निरूपण इसलिए किया गया उपासना ध्यान करें इसमें दुराग्रह करके कोई लोग निर्विशेष ब्रह्म मानेंगे सविशेष ब्रह्म कुछ है ही नहीं कोई सविशेष ब्रह्म मानते हैं द्वैतवादी लोग निर्विशेष ब्रह्म मानेंगे नहीं कहे ही नहीं ये नहीं दोनों का है ज्ञेय रूप से निर्विशेष ब्रह्म और ध्येय रूप से सविशेष ब्रह्म श्रुति स्पष्ट कहते एतदेवाक्षरम ब्रह्म अक्षरम परम परम अपर दोनों जो शुद्ध चैतन्य है वो ज्ञेय अहम और जो सविशेष है वो उसका ध्यान करना हाँ शुद्ध ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं ये तो पारमार्थिक सत्य है किंतु उसकी उपासना के लिए सगुण ब्रह्म की उपासना प्रामाणिक है ईश्वर उपास्य है जीव उपासक है ईश्वर फल देने वाले फल मत ब्रह्म ब्रह्मसूत्र ये परमात्मा से फल देने वाले ईश्वर है शुद्ध जो निर्विशेष ब्रह्म ना वो फल देने वाला है कुछ फल नहीं देने वाला है जो फल देने वाले माया विशिष्ट चेतन ईश्वर है उसकी उपासना होती है तो सविशेष ब्रह्म का भी निरूपण है निर्विशेष का भी निरूपण है किंतु ये अक्षर जो है ओंकार ये दोनों के लिए साधन है अक्षर ब्रह्म निर्विशेष भी सविशेष भी है इसको जान कर ध्यान करके जो चाहता है जो उसको प्राप्त कर लेता है अतः ओंकार ब्रह्मवाचक ब्रह्म का प्रतीक भी है इसलिए एतद् एव अक्षरम ब्रह्म एतद् वही ओंकार अक्षर ब्रह्म है या आगे पर कौन से इसको अपर लेना अपरम एतदेव अक्षरम परम च ये परब्रह्म भी है शुद्ध है तय ही प्रतीकमेव तद अक्षरम परब्रह्म हो अपरब्रह्म दोनों का प्रतीक है प्रतीक में उपासना करनी है अक्षरम एतदेवा अक्षरम ज्ञात्वा इस अक्षर को जान करके जान करके आ तो उपास्य उपासना करके यहाँ उपास्य ब्रह्म इति चिंतन करके इस उपासना ब्रह्म ज अस्मि अहंग्रह करे अथवा ब्रह्म दृश्य भेद दृश्य करे यो इच्छति तस्य तद इच्छति जो चाहता है परम अपरमा जो परब्रह्म चाहता है परब्रह्म को प्राप्त करेगा अपरे तो प्राप्त करेगा तस्य तद भवति कैसे ध्यान करना परम चेत ज्ञातव्यम अपरम चेत प्राप्तव्यम परब्रह्म है तो ज्ञान करना है ज्ञान प्राप्त करना परम चेत ज्ञातव्यम परब्रह्म अहमस्मि से ज्ञान वहाँ ज्ञान है और जो ज्ञान में असमर्थ विचार के असमर्थ अपर ब्रह्म की उपासना कर अपरम चेत प्राप्तव्यम ध्यान करके प्राप्त करना ध्येय रूप से शास्त्र में जहाँ सविशेष ब्रह्म है और ध्येय उपास्य रूप से उसकी उपासना करनी चाहिए और जहाँ निर्विशेष का कथन है और ज्ञेय रूप से सब वेद में उपनिषद में ऐसा है अष्टादश पुराण में व्यास जी ने ऐसे रखा है सर्वत्र सविशेष परमात्मा अवतार रूप हो प्रतीक रूप से उपासना करने के लिए प्रारंभ होता है राम हो कृष्ण हो अवतार हो किसी देव देवती जितने कोई देवता हो पहले प्रतीक उपासना से प्रारंभ करके फिर आगे कहेंगे आप माया विशिष्ट है आप ही सबका जगत का रक्षक है सृष्टि स्थिति पालन करने वाले सृष्टि स्थिति पालन करने वाले कह करके ईश्वर हो गया माया विशिष्ट चेतन सृष्टि करने वाले ब्रह्मा पालन करने वाले विष्णु प्रलय करने वाले महेश्वर किंतु एक के तीनों होंगे तो तीनों से विलक्षण है जो माया विशिष्ट चेतन वही तीनों रूप धारण करते किसी के समय में कोई रूप धारण करते एक समय भी रूप धारण कर सकते अनेक रूप धारण कर सकते हैं तो कह करके अंत में माया विशिष्ट चेतन सगुण ब्रह्म आप है ऐसा ध्यान करना है आप सर्वव्यापक है कहीं भी स्तुति में अष्टादश पुराण में परमात्मा की स्तुति है परिचिन्न नहीं कहा गया सर्वत्र होने के कारण कोने कोने में घट घट में आप है सबके हृदय में है ये कहा गया ये कहीं नहीं कहा हृदय में ही आप है और बाहर नहीं है ऐसे कहीं नहीं कहा गया सर्वव्यापक आप ही सर्वव्यापक होने के कारण छोटे अणु के अणु अंदर भी है सर्वत्र आप है करके फिर व्यापक वो उसके बाद जो व्यापक परमात्मा वो माया विशिष्ट है आप तो माया से अतिरिक्त है माया से पर है निर्विशेष ब्रह्म आप ही सर्व रूपे आपसे भिन्न कोई नहीं सारे जीव ब्रह्मांड आप में आरोपित आप ही सब कुछ है अंत में वही ब्रह्म है सब में ही एक अद्वितीय ब्रह्म भागवत में देवी भागवत में जो कोई पुराण निकाल अष्टादश में अंत में आएगा एक ही तत्व है आप ही वही है अंत में फिर देवी भागवत में देवी स्वयं कहती ऐसे हम देवी न ब्रह्मेवाहम न शोक भाग इत अभेदेन ताम नित्याम चिंतय जगदम्बिकाम देवी भागते देवी कहते अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मेवाहम मैं देवी हूँ मैं ब्रह्म हूँ शोक संसार से रहित हूँ इत अभेदेन ताम नित्याम चिंतय जगदम्बिका जगदम्बिकाम जगदम्बिका को ऐसे अभेद चिंतन करे देवी भावते में कहा गया अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मेवाहम न शोक भागम यही एक आधा दोनों दो स्थान में आता है दोनों में पूर्वाध बराबर है द्वितीय आधा पहला आया इत्यभेदेन ताम चिंतय जगदम दीपिकाम एक भाग एक स्थान में और दूसरा सच्चिदानंद रूपम स्वात्मानम इति भावयेत अहम देवी न चान्योस्मि ब्रह्मेवाहम न शोक भाग सच्चिदानंद रूपम स्वात्मानम इति भावयेत ऐसा भी आया तो जो सत्यजानंद ब्रह्म वही देवी है मैं वही हूँ ऐसा अभेद चिंतन आता है तो अंत में अपर ब्रह्म ज्ञेय रूप से ज्ञान हो तो नित्य मुक्त होता है सद्य मुक्ति होती ज्ञान से और यदि उसमें असमर्थ है ध्यान करेगा हाँ इच्छा है तो ब्रह्म लोग प्राप्त करेगा वैकुंठ को प्राप्त करेगा और यदि इच्छा नहीं है अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान का साधन जब ब्रह्म लोक जाएगा वहाँ ज्ञान होगा तो मोक्ष होगा तो उपासना भी साधन है ब्रह्म प्राप्ति का साधन ब्रह्म प्राप्ति का साधन जहां जाना है ब्रह्म सूत्र में आया उपासना करके कोई जाता है तो कार्यम बादरी से गति उपपते जहाँ जाने का उत्तरान मार्ग से जाएगा कार्य ब्रह्म को प्राप्त करेगा शुद्ध ब्रह्म को नहीं है कार्यम बादरी से गति उपपते कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गमन संभव है अशुद्धम ब्रह्म की प्राप्ति के लिए गति नहीं है जब ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा वो उत्तरायण मार्ग से जाएगा या दक्षिणायण मार्ग से जाएगा बोलो दक्षिणायण मार्ग से जाएगा उत्तरायण मार्ग से ही जाएगा जाना नहीं है यही घटा का घटाकाश को महाकाश में मिलने के लिए घट को तोड़ दिया तो घटाकाश को कहाँ जाना है घट रहते समय भी महाकाश से भिन्न नहीं है और तोड़ने के बाद कहाँ जाना है इसी प्रकार उपाधि नष्ट हो जाता है ज्ञानी यही न तस्य प्राण उत्क्रामंति ज्ञानी के प्राण उत्क्रमण नहीं एव समवनियति है लीन हो जाते हैं इसलिए ब्रह्म ज्ञान से सद्य मुक्ति और अन्यतर कार्य ब्रह्म प्राप्त करेगा ब्रह्म लोक जाएगा वहाँ ज्ञान होगा तो मुक्ति होगा क्रम मुक्ति के लिए उपासना है तो जो जैसा चाहता है ऐसे कर सकता है ओंकार को आलंबन करके ज्ञेय ब्रह्म अथवा ध्येय यत एवं अतएव ये परापर प्राप्ति के साधन होने से ओंकार एतद आलंबनम श्रेष्ठम एतद आलंबनम परम एतद आलंबनम ज्ञात्वा ब्रह्म लोके महीयते यह जो आलंबन ओंकार रूप है श्रेष्ठम अन्य आलंबन से सबसे श्रेष्ठ है ब्रह्म प्राप्ति के आलंबन में ओंकार श्रेष्ठ एतद आलंबनम परम ये आलंबन निरतिशय परम परब्रह्म रूपे एतंद आलंबनम ज्ञात्वा इसको ध्यान करके उपासना करके ब्रह्मलोक में जा करके मयते पूजित होता पूज्यते यत एवं परापर प्राप्ति साधनों से एतद आलंबनम एतद ब्रह्म प्राप्ति आलंबनानम श्रेष्ठम ब्रह्म प्राप्ति के लिए जितने आलंबन है आश्रय सब में श्रेष्ठ है प्रशस्तमम उत्कृष्ट आलंबन है ओंकार एतद आलंबनम परम अपरम च परम अपर दोनों परापर ब्रह्म तो परापर ब्रह्म विषय के एतद आलंबन ज्ञात्वा ब्रह्मलोक महीयते इस आलम्बन को समझ करके उपासना करके ब्रह्मलोक में महीयते मा पूजायाम पूज्य हो जाता है परस्मिन् ब्रह्मणि अपरस्मिन ब्रह्मभूतो ब्रह्मवत उपास्य भवति इत्यर्थ परब्रह्म का ज्ञान यदि हो गया परस्मिन् ब्रह्मणि परब्रह्म में एक हो जाता है ब्रह्म स्वरूप है वस्तु तो ज्ञानी देखता है मैं पहले से भी ब्रह्म से भिन्न नहीं हूं और अज्ञानी दृष्टि से कहा जाता है ब्रह्म हो गया अज्ञानी मानता है कोई ज्ञान साधन करता है ब्रह्म ज्ञान हो गया वो कहाँ जाएगा कहते ब्रह्म के साथ मिल जाएगा मिलना नहीं होता है बहुत लोग कहते ब्रह्म से मिलेगा मिलना नहीं अलग हुआ नहीं मिलना क्या है वो अलग की भ्रांति होती भ्रांति की निवृत्ति होती है घटाकाश महाकाश बिना है ना नहीं बताओ घट जो बन गया उसको कहते घट के अंदर आकाश को कहें घटाकाश घटाकाश में चार तरफ घड़ा है वो घड़ा बाहर आकाश अंदर आकाश दोनों को बीच में विवाह कर देता है अलग कर देता है कोई पदार्थ ने आकाश को भेदन करने के लिए जैसे कांच में के पेटी बना करके रखो सूर्य में रखो अंदर सूर्य किरण आ गया वो सूर्य किरण को आओ अंधकार कमरा में आ जाएगा ना नहीं बाहर रखो एक घंटा रखो इतने कांच का अंदर पूरा प्रकाश आ गया फिर धीरे-धीरे उसको ले आओ यदि प्रकाश चल जाएगा डर लगता है उसके ऊपर काले कंबल डाल लो लाकर कमरा में ले आओ अंधकार कमरा लाकर कंबल हटा दो प्रकाश हो जाए ना नहीं कांच ऐसे पदार्थ नहीं जो आलोक का विभाजन करे कांच को जो लाए वहीं के आलोक वहीं रह गया अंधकार कमरा में जाए तो कांच के अंदर कितने प्रकाश रहेगा कुछ प्रकाश आएगा बाहर से जैसे अंधकार रहेगा जिस प्रकार कांच आलोक का विभाजक नहीं होता है इसी प्रकार कोई भी पदार्थ नहीं जो आकाश का विभाजक हो जाए बड़े लोग कहते विज्ञान बहुत आगे बढ़ गया आगे बढ़ गया बताओ आगे बढ़ गया एक पदार्थ निकाल जो आकाश को दो भाग कर दे कहाँ आगे बढ़ गया कितने दूर बढ़ गया आकाश को विभाजन करने के लिए वैज्ञानिक के पास कोई पदार्थ है विभाजन नहीं हो सकता नहीं ले सकते घड़ा में भर करके जल ले सकते हैं हैं हां जल ले सकते आकाश ले सकते ना नहीं आकाश लेकर जाओ घड़ा में लोहा के घड़ा बड़ा मजबूत बनाओ उसमें आकाश लेकर चलो आकाश को नहीं ले सकते है जहाँ के वहाँ आकाश रह जाएगा जैसे आलोक में कांच रखा पेटी लाया आलोक वहीं रह गया अंधकार हो जाए तो अंधकार है इसी पर कोई पदार्थ ने आकाश को रख करके लेने के लिए बंद करने के लिए घटाकाश महाकाश भिन्न ही नहीं है तो भिन्न नहीं तो उसके साथ मिलेगा क्या हाँ घट है से उसको कहते घटाकाश घट को तोड़ दिया आगे घटाकाश नाम प्रयोग नहीं करेंगे तो महाकाश रूप कहेंगे घटाकाश कहाँ गया शिष्य पूछता है बच्चा पूछता है घटा घटाकाश घटाकाश कहाँ गया कहते घटा आकाश में मिल गया से मिल गया पहले अलग समझ आता है मिल गया वस्तु तो अलग होता ही नहीं मिलेगा क्या ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति ब्रह्म से भिन्न जो भ्रांति थी भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है इसे ब्रह्मणि परस्मिन ब्रह्मणि ब्रह्म रूप हो जाता है अपरस्मिन ब्रह्म में कार्य ब्रह्म में ब्रह्मलोक में तो ब्रह्मभूत ब्रह्म स्वरूप होकर के ब्रह्मपत उपास्य भवति ब्रह्म जैसे उपास्य उपासना करने वाले उपासक भी ब्रह्म स्वरूप हो ब्रह्मलोक में जाकर वो उपास्य हो जाता है ब्रह्म के समान अशुद्ध ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म स्वरूप हो जाता है उसको जाने का आवश्यकता नहीं है जो उपासना करता है वो जाएगा उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाएगा वहाँ ब्रह्मा जी के उपदेश से कोई विशेष उपासना से ब्रह्मलोक गया वहाँ ज्ञान से उपदेश से ज्ञान होगा तो मुख्य हो जाएगा यदि विशेष उपासना के बिना कुछ अश्वमेध कर्म करके गया ज्ञान नहीं होगा तो फिर वापस आएगा ब्रह्मलोक को जाने से मुक्त हो जाएगा इसे जरूरी नहीं हम हाँ, बहुत वहाँ ऐश्वर्य भोग करे सुख इतने ब्रह्मलोक में सुख जो यहाँ कल्पना नहीं कर सकते ऐसे ब्रह्मलोक में रहेगा बड़े ऐश्वर्य में रहेगा किंतु सद्य मुक्ति तो केवल ज्ञान से अहम अस्मि पर ब्रह्म साक्षात्कार संशय विपर रहित ज्ञान हो तो ही मुक्त हो जाता है ज्ञानी देखता है ये तीनों काल में जैसे रज्जु में सर्प भ्रम हुआ रज्जु को देखने के बाद निश्चय होता है ये तीनों काल में रज्जु ही है सर्प नहीं था अभी नहीं आगे भी नहीं होगा इसी प्रकार ज्ञानी को निश्चय होता है ये आत्मा में अथवा मेरे में बंधन कभी था ही नहीं मैं नित्य मुक्त हूँ ऐसे ज्ञान साक्षात्कार संशय विपरीत ज्ञान ऐसे दृढ़ ज्ञान है नैसा मति नैसा तर्केण मतिरापनया जितने बड़े तार्किक बड़े कोई आकर के से बुद्धि का कोई नाश निवृत्ति बुद्धि के कोई नहीं कर सकते अहम ब्रह्म ज्ञान हो गया तो उसका नाश नष्ट नहीं होगा जहाँ नष्ट होने का है वो वास्तव वो ज्ञान नहीं संशय विपर रहित ज्ञान नहीं कोई कहते ज्ञान होना तो सरल है टिकता नहीं ज्ञान तो हो जाता है टिकता नहीं मतलब क्या है कौन सा ज्ञान टिकता नहीं जब ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्कार हो जाएगा उसको टिकाने की आवश्यकता नहीं टिकना क्या उसको भगा भी नहीं सको छोड़ भी नहीं सको अहम ब्रह्म साक्षात्कार संशय विपरीत ज्ञान हो गया उसको टिकाने के लिए बनाना पड़ेगा मकान बना के रखना पड़ेगा कुछ करने का नहीं टिकता नहीं जो ज्ञान कहते वो ज्ञान अज्ञान का निवर्तक नहीं है अज्ञान निवर्तक ज्ञान होते अज्ञान का निवर्तक कर दिया हर वृत्ति नहीं रही जो ज्ञान टिकता है मतलब ब्रह्माकार वृत्ति अंतकरण का परिणाम वो वृत्ति नहीं रहती है वृत्ति नहीं रहे वृत्ति कार्य अज्ञान आवरण हटा दिया स्वयं प्रकाश ब्रह्म है जो ज्ञान वृत्ति ज्ञान वो नहीं रहती है वृत्ति नष्ट हो जाती है किंतु ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद आगे कभी अज्ञान आ जाएगा संसार ब्रह्म हो जाएगा ये प्रश्न ही नहीं है इसलिए ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ साधन है और ज्ञान के साधन है सबसे अंतरंग श्रवण मनन निध्यासन उसमें असमर्थ है तो अहंग उपासना करे अहंग उपासना नहीं कर सकते तो भिन्न भेद उपासना करे प्रतीक उपासना करे जो प्रतीक जिसको प्रिय प्रतीक उपासना करे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु